स्वामी सज्जनों परम पिता परमात्मा को हम किस रूप में देखें किस रूप में समझें उसके लिए महर्षि दयानंद ने आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश के प्रथम मंत्र में बहुत से संबोधनों से परमात्मा को संबोधित किया है उन संबोधनों में से एक संबोधन आज नया लेते हैं महर्षि लिखते हैं हे सनातन परमात्मा को कहा हे सनातन सनातन शब्द का प्रयोग हम लोग प्राय धर्म के साथ में करते हैं <clears throat> वैदिक धर्म कैसा है सनातन है सनातन धर्म के नाम से भी हम प्रयोग करते हैं सत्य सनातन वैदिक धर्म धर्म के नाम से जो अन्य प्रचलित हैं मत संप्रदाय उनका कोई काल है कोई महापुरुष हैं उनके अपने अपने जिनसे वो वो प्रचलित हुए लेकिन वैदिक धर्म का प्रारंभ सृष्टि के आरंभ से है और सदा से है ऐसे दृष्टि से उसके साथ शब्द बोला जाता है सनातन वैदिक धर्म तो सनातन शब्द का मतलब है जो सदा से रहता है सदा से है और सदा रहेगा सनातन शब्द दूसरे शब्दों में कहें तो यह है सदातन सदा सदा का मतलब है सर्वदा हमेशा जो रहता है विद्यमान है उसे सनातन कहते हैं तो परमात्मा को काल की दृष्टि से सदा रहने वाला इस संबोधन में स्वीकार किया गया हे सनातन इसको दूसरे शब्दों में हम नित्य भी कहते हैं जो वस्तु जो पदार्थ अनादि है उसका कोई प्रारंभ नहीं है और जिसका कोई अंत भी नहीं है उसे नित्य कहते हैं और उसे ही सदातन नाम से कहते हैं एक भक्त परमात्मा को सनातन शब्द बोल रहा है परमात्मा को सनातन रूप में देखने का भी एक प्रयोजन है यदि हम यूं सोचें कि परमात्मा अभी विद्यमान है वर्तमान क्षण में विद्यमान है और इतना मानने से भी हमारा काम चलता है अगले क्षण में भी वो रहेगा तो उस समय भी हम मान लेंगे परमात्मा को उस क्षण में भी है जैसे हम परस्पर व्यवहार करते हैं आज जो हमारे मित्र बंधु परिवार वाले हैं उनसे हम अभी व्यवहार कर रहे हैं वो भी वर्तमान है हम भी वर्तमान है ऐसे ही अपने घर संपत्ति वस्त्र आदि से भी हम कुछ व्यवहार करते हैं और वो वर्तमान में हैं आगे भी वो रहेंगे ये पृथ्वी वर्तमान में है जब से हम उत्पन्न हुए हैं तब से ये विद्यमान है आज भी है और जब तक हमारा ये जीवन है तब तक ये भूमि हमारे लिए तो विद्यमान ही रहेगी इन बहुत सी वस्तुओं के साथ हम व्यवहार वर्तमान के क्षण में करते हैं और कुछ काल पहले तक और कुछ काल बाद तक हमारे जीवन में प्रारंभ से लेकर के अंत तक का जीवन जन्म से मृत्यु पर्यंत काल तक हम उन बहुत सी चीजों को विद्यमान ही देखते हैं और बहुत सी वस्तुएं कुछ काल तक हमारे सामने रहती हैं किसी वस्तु के साथ हमारा व्यवहार उस वस्तु के काल निर्धारण पर भी निर्भर करता है कोई व्यक्ति हमारे पास में आया और वो पांच मिनट के बाद में चला जाएगा पूर्व में हमारे लिए बिल्कुल अपरिचित हमारा उससे कोई लेना देना नहीं अभी आया कुछ कार्य था पांच मिनट एक घंटा एक दिन हमारा कुछ कार्य रहा उससे और वो चला गया एक दूसरा व्यक्ति है जो हमारा मित्र है हमारा भाई है हमारे माता पिता हैं हमारे पुत्र पुत्री हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो 10, 20, 50, 60, 70 साल तक 80 साल तक हमारे साथ में रहते हैं हमारा उनसे संबंध संपर्क बना रहता है तो उनके साथ हमारी दृष्टि अलग प्रकार की होगी इसको और लौकिक उदाहरण से लोक में बताया जाता है हम समझ सकते हैं एक तो हमारा अपना घर होता है माता पिता से मिला या हमने बनाया और हम उसके स्वामी हैं जब तक हम चाहेंगे उसमें रहते रहेंगे जीवन पर्यंत मृत्यु पर्यंत हम उसमें रह रहे हैं ये हमारा स्थायी घर है और एक हम यात्रा पे निकले हैं किसी धर्मशाला में ठहरे हैं किसी विश्रांति गृह में ठहरे हैं कुछ घंटे के लिए एक दिन दो दिन के लिए कुछ सप्ताहों के लिए अधिक से अधिक किसी आश्रम में गए वहां कुछ दिन रुके किसी संस्था में गए वहां कुछ दिन रुके और आगे चल दिए मकान तो सब मकान है निवास स्थान सब निवास स्थान है किंतु सबके प्रति हमारा दृष्टिकोण हमारा व्यवहार अलग होता है हमारा अपने घर के प्रति दृष्टिकोण अलग होगा अपने परिजनों के साथ दृष्टिकोण अलग होगा जिनके साथ लंबे समय तक रह रहे हैं और जिस जगह हम केवल गए हैं एक दिन रुके और आगे चल दिए आगे हमें कुछ याद भी नहीं करना है उस जगह हमें कभी आना भी नहीं है कोई संभावना नहीं है तो किसी वस्तु के साथ हमारा व्यवहार उसके साथ हमारे व्यवहार के काल पर भी निर्भर करता है जिस नियम को जिस व्यवस्था को हमें पालन करना है वो व्यवस्था कितने दिन के लिए हमारे साथ में है हम किसी आश्रम में गए तो वहां के नियम व्यवस्था जितने दिन हम वहां हैं हमारे पे लागू रहेगी हमें उसका पालन करना है उसके आगे हमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और जिस देश में हम रह रहे हैं उसका संविधान तो प्राय लंबा चलता है तो उसके अनुसार हम व्यवहार करते हैं उसके अनुसार अपने को ढालते हैं तो हमारा जीवन विभिन्न व्यक्तियों वस्तुओं और नियमों के साथ सामंजस्य पूर्वक चलता है हमें उनके साथ सामंजस्य करना होता है और वो सामंजस्य कितने काल का है इस आधार पर हम उसको न्यूनाधिक महत्ता देते हैं तो परमात्मा एक ऐसा तत्व है जो हमारे साथ सदा रहता है इसलिए कहा हे सनातना ये पृथ्वी भले ही जन्म से मरण पर्यंत हमारे साथ में है और हमें यही प्रतीति होगी कि ये सदा हमारे साथ में है किंतु अगले जन्मों को जब हम देखते हैं तो उसकी दृष्टि से न जाने अगला जन्म किस पृथ्वी पे होगा इससे भिन्न पर इससे पिछले जन्म न जाने किस पृथ्वी के होंगे तो इस पृथ्वी के साथ हमारा संबंध इस जन्म अथवा यदि अगले जन्म भी हम इस पृथ्वी पर लेते हैं तो उतना मात्र है और हमारी ये जो जन्म मरण की यात्रा है ये तो बहुत पहले से चल रही है ये पृथ्वी को बने इस पृथ्वी को बने तो कुछ वर्ष हुए हैं कुछ करोड़ वर्ष हुए हैं जब सृष्टि बनी उसके बाद ये बनी लेकिन हमारी जन्म मरण की यात्रा तो उससे भी पहले से चल रही है और ऐसे ही आगे भी मुक्ति होने तक चलती रहेगी तो इस पृथ्वी के साथ हमारा संबंध दीर्घ स्थायी दीर्घ काल तक का दिखाई देते हुए भी सदा सर्वदा जैसा दिखाई देते हुए भी ये सनातन नहीं है तो इस पृथ्वी पर विद्यमान अन्य वस्तुओं के साथ वृक्ष वनस्पति परिवार घर वस्त्र भोजन आदि के साथ हमारा संबंध सनातन नहीं मूल प्रकृति नित्य है वो भी सनातन है लेकिन उसके साथ हमारा व्यवहार नहीं है मूल प्रकृति के अतिरिक्त समस्त जीवात्माएं नित्य हैं वो सदा रहती हैं वो भी सनातन है हम भी सनातन हैं लेकिन अन्य आत्माओं के साथ में हमारा संबंध सनातन नहीं है आज जिन 25, 50, 100, हजार लोगों के साथ हमारा संपर्क है आवश्यक नहीं उन आत्माओं के साथ हमारा संपर्क आगे लाखों करोड़ों वर्षों तक रहे ना रहे हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार न जाने किस जन्म को प्राप्त करेगी पहले भी न जाने कहा कौन था तो आत्माएं नित्य हैं सनातन हैं लेकिन उनके साथ हमारा संपर्क संबंध सनातन नहीं है यदि भविष्य में कभी उनके साथ फिर संपर्क होगा भी लेकिन बीच का लंबा काल हो सकता है जिसमें हमारा उनसे कोई संपर्क ही नहीं है कोई संबंध नहीं है तो परमात्मा एक अकेली वस्तु है अकेला पदार्थ है जिसका हमारे साथ में सनातन संबंध है परमात्मा सनातन है मूल प्रकृति सनातन है और आत्माएं भी सनातन है किंतु मात्र परमात्मा ऐसा है जिसके साथ हमारा सनातन संबंध है सदा सदा से संबंध था और भविष्य में भी रहेगा कोई ऐसा काल नहीं है जिसमें हमारा परमात्मा से संबंध संपर्क ना हो सक्रिय निष्क्रिय हो सकता है कोई परमात्मा को स्वीकार करे या ना करे लेकिन परमात्मा के द्वारा उन आत्माओं के लिए हम सब आत्माओं के लिए जो किया जा रहा है वो सतत चलता रहता है प्रलय अवस्था में भी वो यदि हमें विशेष अवस्था में रखता है तो वो भी एक संपर्क है वो भी एक संबंध है परमात्मा के साथ वो भी संबंध का एक प्रकार है तो चाहे बंधन में हो चाहे मुक्ति में हो चाहे प्रलय में हो परमात्मा के साथ हमारा संपर्क बना रहता है परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार हम विभिन्न स्थानों पर रहते हैं स्थित रहते हैं तो जब हम परमात्मा को संबोधित करते हैं हे सनातन इसमें केवल वस्तु को सनातन रूप में नहीं देखना है वस्तु को तो सनातन देखना ही है लेकिन उस वस्तु के साथ हमारा संबंध भी सनातन है और इसलिए परमात्मा को सनातन संबोधित करना अधिक महत्वपूर्ण है जब हम परमात्मा की सिद्धि करते हैं कि संसार को बनाने वाला कोई अवश्य होना चाहिए ये बुद्धिपूर्वक रचना अत्यंत जटिल रचना सब प्रयोजन रचना परस्पर संपर्क वाली सामंजस्य वाली रचना इसका बनाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए तो जब हम किसी युवक या युवती से बच्चों से बात करते हैं और उन्हें ईश्वर के अस्तित्व को समझाते हैं तो ये बात रखते हैं कोई वस्तु है तो उसका बनाने वाला कोई ना कोई होगा तो उनके मन में सहज ही एक प्रश्न आता है वो पूछते हैं फिर परमात्मा का बनाने वाला कौन है क्योंकि हमने ये प्रस्तुत किया था कि जो भी चीज बनी है कार्य जगत उसका बनाने वाला कोई है तो उनके मन में ये बात घर जाती है घर कर जाती है कि सबका बनाने वाला हर वस्तु का कोई ना कोई बनाने वाला होता है तो प्राय प्रश्न कर देते हैं कि परमात्मा को किसने बनाया ठीक है वो भी है तो उसको भी कोई बनाने वाला होगा ये प्रश्न उठ सकता है तो हम कहते हैं कि नहीं परमात्मा तो सदा से है नित्य है परमात्मा को बनाने वाला कोई नहीं है अब ये बात सहज स्वीकार्य नहीं होती जो परमात्मा को अभी अभी विचार रहे हैं स्वीकार रहे हैं उनको सहज स्वीकार्य नहीं होता कि परमात्मा सदा से है उसको किसी ने नहीं बनाया उनकी युक्ति यही चलती है कि जब सबको सब चीजें बनी है तो परमात्मा भी बना होगा जब अन्य चीजों का बनाने वाला है कोई तो परमात्मा का भी बनाने वाला कोई होना चाहिए और यदि इस प्रश्न में कोई धार्मिक व्यक्ति भी आकर के अटक जाए तो परमात्मा को सनातन नहीं मान सकता यदि परमात्मा को सनातन नित्य नहीं मानते हैं तो कहां समस्या आएगी फिर प्रश्न खड़ा होगा अगर किसी तरह कल्पना करें उहा करें कि परमात्मा का भी बनाने वाला कोई है तो फिर अगला प्रश्न आएगा कि परमात्मा को बनाने वाले को किसने बनाया और फिर उसके बनाने वाला और ये परंपरा प्रश्न पे प्रश्न प्रश्न पे प्रश्न चलते चले जाएंगे अनुत्तरित प्रश्न इसका कोई समाधान नहीं है तो मूलतः हमें ये मानना होता है कि कोई ना कोई आदि तत्व है जो बना नहीं है नित्य है जैसे इस सृष्टि की रचना किसी पदार्थ से हुई तो उस पदार्थ की रचना किससे हुई पीछे जाते जाएंगे तो अंततः मूल कणों को मानना ही होगा जो किसी से नहीं बने हैं जो सदा से थे इसके बिना इस समस्या का कोई समाधान नहीं है और ये संभव ही तब है जब कुछ नित्य पदार्थ हो और उसी से फिर ये चीजें बनती हों और वापस वो उसी रूप में आ जाती हों ये की ये बात परमात्मा पर भी हमें लगानी होती है परमात्मा पर भी लगानी चाहिए तो परमात्मा सदा से है सनातन है वस्तु रूप में परमात्मा सनातन है और हमारे साथ उसका संबंध भी सनातन है अब जब साधक व्यक्ति परमात्मा को सनातन स्वीकार करता है तो वस्तु रूप में वो सनातन है सदा रहने वाला है और मेरे साथ जो उसका संबंध है वो भी सनातन है अब ये संबंध परमात्मा के साथ में किस प्रकार का है तो यहां भी परमात्मा के समस्त गुण धर्म परमात्मा के साथ हमारा समस्त व्यवहार जुड़ जाएगा और उन सब पर सनातन विशेषण जुड़ेगा परमात्मा को हम सृष्टि का रचयिता मानते हैं परमात्मा ने मेरे लिए हम जीवात्माओं के लिए इस सृष्टि को बनाया है तो परमात्मा जब सनातन है तो वो सनातन ही इस सृष्टि को बनाता रहा है बनाता रहेगा परमात्मा सनातन है सदा रहने वाला है तो उसका समस्त स्वभाव उसके समस्त गुण उसके समस्त कर्म भी सनातनी है परमात्मा के साथ हमारा संबंध सनातन है तो जो संबंध आज है वही संबंध पहले भी था और वही संबंध आगे भी रहने वाला है तो जब भक्त परमात्मा की प्रति भावना करता है कृतज्ञता की कि हे परमात्मा आपने मेरे को यह शरीर प्रदान किया ये प्रकृति प्रदान की भोग के साधन प्रदान किए उन्नति के लिए इंद्रियां और बुद्धि प्रदान की है ये एक वर्तमान के क्षण में देखना है और इसको कुछ बड़ा भी कर दें तो साधक व्यक्ति अपने जीवन के साथ जोड़ता है कि मुझे इस जीवन में आपने ये सब चीजें प्रदान की है ये थोड़ा विस्तृत हो गया तो भावना परमात्मा के प्रति अधिक होगी और जब साधक ये सोचता है कि हे परमात्मा आप हर जन्म में मुझे शरीर प्रदान करते हैं भविष्य में भी मुझे जन्म प्रदान करेंगे जब तक मुक्ति नहीं हो जाती है अब वो परमात्मा के द्वारा दिए गए साधनों को अनादिकाल से देख रहा है और अनादिकाल अनंत काल तक देखता रहेगा एक बहुत व्यापक दृष्टि बन गई परमात्मा सनातन है तो परमात्मा के द्वारा जो उन्नति का अवसर आज प्रदान किया जा रहा है ये उन्नति का अवसर उसने पहले भी प्रदान किया था और यही उन्नति का अवसर वो भविष्य में भी प्रदान करता रहेगा जिस अपने नियम व्यवस्था के आधार पर वो आज हमें ये सारी व्यवस्था दे रहा है वो ही नियम व्यवस्थाएं पहले भी थीं और आगे भी रहेंगी अब उस परमात्मा के प्रति साधक की भावना बहुत बढ़ जाती उसकी कोई सीमा नहीं है जैसे परमात्मा की कृपा की कोई सीमा नहीं है वो सनातन है सदा से हमारे लिए ये कर रहा है तो कितनी हम उसके प्रति कृतज्ञता करें उसकी भी कोई सीमा दिखाई नहीं देती उसकी कोई सीमा हमें पता नहीं लगेगी जितना भी सोचें पीछे का जितना भी सोचें परमात्मा की कृपा ही सनातन रूप में दिखाई देगी और भविष्य के लिए भी जितना भी सोचते जाए जितना भी सोचते जाए परमात्मा की कृपा सदा हमें वर्तमान दिखाई देगी होगी भविष्य में लेकिन आज भी हमें ये विश्वास रहे कि परमात्मा की ये कृपा भी सनातन है सदा जो कि तो बनी रहेगी परमात्मा की न्याय व्यवस्था हमारे सुधार के लिए उन्नति के लिए वो भी जैसी पहले थी वो आज है और आगे भी ज्यो की त्यों बनी रहेगी ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है एक बहुत बड़ा विश्वास है एक बहुत बड़ी निर्भयता का कारण है हम किसी व्यक्ति को जब जानते हैं उसके अपने जो भी व्यवहार होते हैं स्वभाव होते हैं उसको जानते हैं व्यक्ति बदलता है और जो व्यक्ति अपने व्यवहार को बार बार बदलता है उसके प्रति हम अधिक सावधान होते हैं उसके प्रति हम अधिक आशंकित होते हैं उसके प्रति हमें निर्भयता नहीं रहती है ये व्यक्ति न जाने कब क्रोधित हो जाए और कब कृपा कर दे कुछ नहीं पता अथवा अभी पति या पत्नी ठीक चल रहे हैं पहले कभी गलत व्यवहार करते थे अभी ठीक चल रहे हैं वही ठीक ही चल रहे हैं अभी तो लेकिन भविष्य के लिए हम पूरे निश्चिंत नहीं होते कि ठीक ही चलेंगे ये ठीक ही व्यवहार करेंगे हो सकता है फिर गलत करने लग जाए क्योंकि पीछे भी वो गलत व्यवहार करते रहे जब कभी हम परिवार में किसी व्यक्ति के कहीं कोई दिक्कत हो कि कभी बाद में जाते हैं कि अब तो सब ठीक हो गया बोले हाँ ठीक चल रहा है ठीक हो गया का मतलब होता है कि जैसे ठीक हो गया और आगे कभी गलत नहीं होगा पर वो कहता नहीं अभी तो ठीक ही चल रहा है इस वाक्य का क्या मतलब है कि भविष्य में ठीक चलेगा इसकी हमें पूरी निश्चितता नहीं है आगे गलत हो सकता है फिर हो सकता है तो मनुष्य प्राणी अन्यों के साथ हमारे व्यवहार अस्थिरता को लिए हुए होते हैं और इसलिए हम किसी पर पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते जितना भी हम पूर्ण विश्वास करें स्वीकार भी कर लें लेकिन फिर भी वहां अनित्यता रहती है वहां सनातनता नहीं रहती है जीवन में इतनी कम निश्चितता के रहते हुए भी हम अनेक व्यक्तियों पर पूर्ण विश्वास करते हैं उनसे पूर्ण निर्भय रहते हैं उनसे पूर्ण आश्वस्त रहते हैं जबकि वो बहुत थोड़े काल के लिए होता है कुछ वर्षों के लिए कुछ दशकों के लिए अधिक से अधिक एक जीवन के लिए फिर भी हम बहुत निर्भय रहते हैं उनसे कि नहीं इसका व्यवहार सदा ठीक है ये सदा मेरे प्रति प्रेम का व्यवहार करता है मित्र का व्यवहार है हित की भावना है और हम बहुत सारे तनाव दबाव से दूर हो जाते हैं यदि कोई बुरा व्यक्ति भी है और उसका व्यवहार एक जैसा है कि बुरा है ये सदा मेरे को बुरा ही कहता रहता है तो भी हम अपेक्षाकृत निश्चित रहते हैं तुलना में उस व्यक्ति के जो कभी तो हमारे हितकर बन जाता है और कभी अहितकर बन जाता है कभी अहितकर होते हुए भी चुपचाप बैठा रहता है कि न जाने कब क्या कर देगा और एक व्यक्ति है जैसा उसके मन में है वैसा विरोध भी करता है तो करता है वैसा ही है न इससे ज्यादा होगा न कम होगा उस शत्रु से भी उस हानि करने वाले के प्रति भी हम अपेक्षाकृत निश्चित रहते हैं कि भाई ये इतना ही कर सकता है और इतना ही करेगा न इससे कम न इससे अधिक तो परमात्मा तो सदा सदा से एक जैसा है सनातन है और एक जैसा व्यवहार कर रहा है आज भी और भविष्य में भी तो अब साधक के मन में परमात्मा के प्रति जो भाव बनेगा हे सनातन बहुत बड़ी निश्चिंतता आश्वस्ति और निर्भयता को लिए हुए ये शब्द है साधकों के मन में जो आशंकाएं हो जाती हैं कि भविष्य में पता नहीं क्या होगा इस जन्म में भी भविष्य में पता नहीं क्या होगा अथवा इस जन्म में तो आश्वस्ति लगती है धन संपत्ति मित्र इष्ट मित्रों की लेकिन अगले जन्म में पता नहीं क्या होगा यदि परमात्मा को हम सनातन रूप में स्वीकार कर रहे हैं उसके समस्त गुणधर्म स्वभाव भी सनातन है उसका हमारे से संबंध सनातन है तो जैसे आज परमात्मा की कृपा विद्यमान है उसकी न्याय व्यवस्था विद्यमान है ऐसी भविष्य में क्यों नहीं रहेगी जो कि तो भविष्य में भी रहेगी इसलिए कोई भय आशंका की बात ही नहीं है तो जब हम परमात्मा को संबोधित करेंगे हे सनातन तो उसमें न केवल उस वस्तु पे केंद्रित है कि वो सदा रहने वाला है इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है अधिक महत्वपूर्ण है कि उसका हमारे साथ संबंध वो सनातन है उसका हमारे साथ में व्यवहार वो सनातन है उसके समस्त गुण धर्म हमारे प्रति जैसे आज काम कर रहे हैं ऐसे भविष्य में भी काम करेंगे इस भावना को अपने अंदर रखते हुए परमात्मा को तीन बार ओम शब्द से उच्चारित करेंगे कि वो ओम परमात्मा सनातन है प्रणव ध्वनि ओ